साधन से भगवान को नहीं पाऊंगा और यह बात बिल्कुल सत्य भी है कोई व्यक्ति वास्तव में अपने साधन से भगवान को नहीं पा सकता है साधन करने पर एक बात होती है कि भगवान द्रवित हो जाते हैं इसके कष्ट को देख करके तो वे स्वयं ही आ जाते हैं जैसे छोटा सा बच्चा यदि मां के गोद में चढ़ना चाहे तो अपने प्रयास से नहीं चढ़ पाएगा छोटा सा बच्चा जो चलना भी नहीं जानता है बैठना भी नहीं जानता है उसको कोई कहे कि तुम चलो माँ के गोद में चढ़ जाओ तो कैसे चढ़ेगा लेकिन बच्चा यदि रोने लगता है तो माँ स्वयं ही सब काम छोड़ करके आती है और बच्चे को दूध पिलाती है गोद में उठा लेती है उसका धूल झाड़ती है पोछती है नहलाती है इस तरह से भगवान हमारे साधन को देखते हैं कि हमारे लिए कष्ट सह रहा है भजन कर रहा है तो वे कृपा करके अपनी प्राप्ति करा देते हैं लेकिन जीव में शक्ति नहीं है वास्तव में भगवान को पाने की भगवान को द्रवित करने की शक्ति है एक बच्चे में और कोई पावर नहीं है लेकिन रोने का पावर है बाला नाम रुदितम बलम संस्कृत में कहा गया है कि बच्चों का और स्त्रियों का बल क्या है रो देना रो करके कोई भी बड़ा से बड़ा काम करा सकते हैं वास्तव में ये बात देखी हुई है कोई स्त्री अपने पति से रो दे और हृदय से रो दे तो पति उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करने के लिए तैयार है ठीक है रो मत मैं काम करूंगा और बच्चा यदि रो दे सही सही तो मां उसे उठाती है दूध पिलाती तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि रो सकते हैं मतलब रोने का मतलब जब करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा सौभाग्य है जीव का जब भगवान के दासों के बीच उसे रहने का मौका मिला और भक्तों के बीच में रह करके भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन स्मरण करे तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है इस तरह वृत्रासुर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वे देह को छोड़ना चाहते हैं इसके बाद जो अध्याय प्रारंभ होता है उसमें यही सबसे सबसे पहले गया कहा गया एवं जिहासुर निर्पदेह माजो हे महाराज परीक्षित वृत्रासुर आजव युद्ध में अपना देह त्यागना चाहते थे लेकिन जब इंद्र उनको नहीं मार रहे थे तब यही इंद्र को मारने की धमकी दिए सूर उठा करके चले और उन्होंने कहा पापी कहीं के तुम निश्चित आज मर गए इतना कह करके त्रिशूल उठाए लेकिन भगवान इंद्र सावधान थे वो त्रिशूल को भी और इनके भुजा को यहां से काट दी एक भुजा कट गई उस दशा में भी वृत्रासुर अपना एक परिघ उठाए बाएं हाथ से और परिघ उठा करके और इंद्र के ठुड्डी पर मारे यहां तो हाथ कहां पर हाथी पर भी मारे और इस पर भी बाह कटा हुआ है और जाकर के मारे तो इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया वज्र गिर गया तो इंद्रो ने वज्रम जगहे भी लज्जित उनको बहुत लज्जा हुई अब वे वज्र उठा नहीं रहे थे अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि मैं वृतरासुर को मार नहीं सकता जबकि एक बाह उसकी कटी हुई है और इतनी वीरता दिखा इस पर दैत्य और देवता सब वृत्रासुर की बहुत प्रशंसा कर रहे थे उस समय वाह वीर वाह साहस अरे मनुष्य के शरीर में कांटा चुभ जाए तो सारा शरीर प्रभावित हो जाता है ऐसे बांह कट गई है नदी जैसे खून की धारा बह रही है लेकिन उस वीर की वीरता देखी अब भगवान इंद्र एकदम वज्र नहीं ले रहे थे तब वृत्रासु जी फिर कह रहे हैं कि आप क्यों विषाद कर रहे हैं उठाओ उठाओ वज्र मारो मुझे मारो वो कहते हैं देखो एक ही पुरुष है इस जगत में जिसकी सदा विजय होती है वो है भगवान विष्णु उनके अतिरिक्त किसी की सब समय विजय नहीं होती है देखे हम हम में और आप में कभी आपकी पराजय हो रही है तो कभी मेरी विजय कभी मेरी पराजय कभी आपकी पराजय मेरी बाह कट चुकी है एक प्रकार से मैं हार गया हूं फिर भी मैं आपके प्राण को लेने की चेष्टा कर रहा हूं लेकिन सब कुछ विष्णु की इच्छा से होता है बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं कल इनके प्रवचन को कहा जाएगा इंद्र भगवान से फिर प्रवचन चालू किए बाह कटी हुई है और कथा चल रही है युद्ध में और विशुद्ध कथा विशुद्ध सिद्धांत भगवान के विषय में बोल रहे हैं जब ये कहते हैं कि एक ही पुरुष सदा विजयी होता है वो है भगवान विष्णु और कोई नहीं <coughs> तो आप चिंता मत कीजिए वज्र उठाइए और मुझे मारिए कोई पता नहीं चलता है कब कौन जीतेगा कब कौन हारेगा आपके हाथ से वज्र गिर गया है तो इससे क्या आप फिर उठाइए और मेरा वध कीजिए तो वध नहीं करने हम हाँ, वज्र गिर गया तब कह रहे थे और वध नहीं कर रहे थे इस पर वे उनको मारने चले बहुत सुंदर सुंदर कथा है बाद में भगवान इंद्र ने दोनों हाथ काट दिया उनका दोनों हाथ कटने के बाद भी अपने विशाल मुख को खोल करके एक ओठ नीचे जमीन से सट रहा था दूसरा ऊंचा बादल से और इंद्र को हाथी सहित खा गए वृत्राश्र दोनों बाह कटने के बाद भी लेकिन भगवान इंद्र नारायण कवच का अभ्यास किए थे बहुत और जोग बल था इसीलिए इतना छोटा हो गए वृत्रासुर के पेट में वे मरे नहीं और वृत्रासुर वास्तव में उनको दांत से पीसे नहीं वो केवल खा गए उनको <laughs> तो भगवान इंद्र वज्र से पेट काट करके और निकल आए हाथी के साथ और बाद में मस्तक काटे तो मस्तक कटने में एक साल लग गया जबकि वज्र बहुत वेग से काट रहा था चारों तरफ से मस्तक तो उसको दो आयन लग गए दक्षिणायन उत्तरायण भागवत में लिखा गया एक साल के बाद मस्तक कट करके गिरा ये तो परसों कथा होगी उनके वध की लेकिन कल वृतरासुर जी का प्रवचन कहा जाएगा हरे कृष्ण जय श्री प्रभु